नमस्कार मित्रों आज है 16 सितंबर संडे और ये जो वीडियो है वो है एफडीआई के ऊपर कि एफडीआई एग्जैक्टली क्या है क्या नुकसान है हाँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए कौन से एरिया में करना चाहिए कौन से एरिया में हमें नहीं होने देना चाहिए तो पहले तो मैं बैकग्राउंड बताऊं कि जो हम एक्टिविस्ट इस मुद्दे पे कैसे काम कर सकते हैं मान लो हमने हमें हम में से कुछ लोगों को या हम सबको लगा कि भाई वॉलमार्ट को नहीं आने देना चाहिए या तो जो रियल एस्टेट में एफडीआई आ रहा है जो अधिकतर स्पेकुलेशन के होते हैं वो नहीं आना चाहिए माइनिंग में माइनिंग में एफडीआई नहीं आना देना चाहिए तो हम क्या उखाड़ सकते हैं पीएम ने बोला कि एफडीआई आएगी तो हम तो कब तक बहस करते रहेंगे कब तक विरोध करते रहेंगे तो इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए ये मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है rahulmehta.com/301.htm मैं रिपीट करता हूँ rahulmehta.com/301.htm और हिंदी में भी लिंक इसका आपको मिल जाएगा अब इसमें मैंने पहले चैप्टर सेक्शन 1.3 चैप्टर 1 सेक्शन 1.3 में ये तीन लाइन का कानून प्रपोज किया है ये तीन लाइन का कानून जिसे हम टीसीपी कहते हैं ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग ये तीन लाइन का कानून प्रपोज किया है तो पहली मांग क्या है कि ये कानून गैजेट में छपना चाहिए गैजेट यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार हर महीने एक डॉक्यूमेंट निकालती है जो कि इंस्ट्रक्शन टू कलेक्टर और अदर ऑफिसर सेक्रेटरी वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शंस होती है ऑर्डर होता है तो गैजेट में हमें ये टीसीपी छपवाना चाहिए टीसीपी क्या कहता है कि कोई भी आदमी अपनी एफिडेविट दर्ज करा सकेगा और वो एफिडेविट पीएम के वेबसाइट पे आएगी कलेक्टर की कचहरी में जाके प्रति पेज 20 रुपया फी देके एफिडेविट अपनी दर्ज करा सकता है और कोई भी नागरिक एटीएम के द्वारा एसएमएस के द्वारा या पटवारी की कचहरी में खुद जाके तीन रुपया फी देके एफिडेविट पे अपनी हाना दर्ज करा सकता है यानी कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसका पहले दिन क्या होगा कि आदमी सिर्फ पटवारी की कचहरी में जाके वोटर कार्ड दिखा के हाना दर्ज करा सकता है और महीने दो महीने में ये सिस्टम एटीएम एसएमएस पे आ जाएगा तो आप एटीएम के थ्रू भी अपनी हाना किसी भी एफिडेविट पे दर्ज कर सकते हो तीसरा क्लॉस कहता है कि हाना पीएम के लिए बंधन करता नहीं है वो वो मेरा पूरा एक टीसीपी पे वीडियो है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी इस right to recall group channel में ही आपको मिल जाएगा अब ये एफिडेविट ये ड्राफ्ट सॉरी ये ड्राफ्ट एक बार गैजेट में छप जाए उसके बाद हम एफडीआई के मुद्दे पे कुछ इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि जैसे कोई एफिडेविट सबमिट कर सकता है कि इतने इतने एरिया में एफडीआई नहीं आना चाहिए और यदि उसमें भारी मात्रा में करोड़ों की संख्या में लोग हां दर्ज कराते हैं तो पीएम को एक स्पष्ट निर्धारण मिल जाएगा कि इतने करोड़ एफडीआई के एक अगेंस्ट है और उसके बाद भी पीएम ने नहीं माना तो मेरा दूसरा प्रपोजल है right to recall PM chapter six section 6.6 में राइट टू रिकॉल पीएम यानी राइट टू रिकॉल पीएम के द्वारा नागरिक पीएम को नौकरी से निकाल सकते हैं पीएम को बदल सकते हैं तो राइट टू रिकॉल पीएम और ये ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल है मेरा एफडीआई के मुद्दे पे कि एफडीआई के मुद्दे पे हम कितने भी बहस करें, कितने भी ओपिनियन रखें, लेकिन यदि राइट टू रिकॉल पीएम नहीं है, तो वो सारे डिस्कशन हवाबाजी है, उसका कोई मतलब नहीं है। राइट टू रिकॉल पीएम आने के बाद नागरिकों को डिसाइड करना है कि एफडीआई पे स्टैंड क्या लेना, किस तरह का होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एफडीआई से लगे हुए टेक्निकल इकोनॉमिक मुद्दे बताऊंगा। पहला तो एफडीआई का खतरा क्या है? दो चीजों में अंतर देखिए मान लो मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करता हूं या तो अमेरिका की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है तो सबसे बड़ा फर्क क्या है कि मान लो मैंने अमेरिका में हजारों लाखों लोगों का शोषण शुरू किया तो वो लोग मेरे सामने केस फाइल कर देंगे केस किसके पास जाएगा ज्यूरी के पास जाएगा ये अमेरिका और भारत में बहुत बड़ा फर्क है मैं वहां पे कोई बड़ी कंपनी खोलता हूं और हजारों लोगों का शोषण करता हूं तो वो मेरे सामने केस फाइल करेंगे केस जाएगा ज्यूरी के पास हर एक केस अलग ज्यूरी के पास गया मान लो तो मैंने एक लाख लोगों का शोषण किया है तो बारह लाख ज्यूरी के मेंबर होंगे एक लाख केस में मैं इतने सारे लोगों को रिश्वत नहीं दे पाऊंगा मेरे खिलाफ एक के ऊपर एक जजमेंट आ जाएंगे मुझे अपनी नीति सुधारनी पड़ेगी या तो मैदान खदेड़ के भागना पड़ेगा लेकिन कोई बड़ी कंपनी भारत में आती है, मान लो वो लाख दो लाख लोगों का शोषण करती है, तो केस जाएंगे सेशंस कोर्ट में। अब वो बड़ी कंपनी सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसके रिश्तेदार वकील को खरीद लेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, हाई कोर्ट के जज के द्वारा वो नीचे के वो डायरेक्टिव निकाल देगी कि भाई इस तरह से जजमेंट देना है, इस तरह से तुम्हें जजमेंट देना है। और निचली कोर्ट के जज है वो डर जाएंगे। कि भाई इस तरह से जजमेंट नहीं दिया तो हाई कोर्ट का जज मुझे नौकरी से निकाल देगा सुप्रीम कोर्ट का जज मुझे नौकरी से निकाल देगा तो हमारे वहां अमेरिका में जुडिशरी डिसेंट्रलाइज्ड है इसलिए वहां में बड़ी कंपनी जाएगी तो वहां नागरिकों का शोषण दमन बड़े पैमाने पर नहीं कर पाएगी हमारे यहां जुडिशरी सेंट्रलाइज्ड है कि सारा जुडिशरी का पावर पच्चीस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, के पास है और हिम्मत नहीं है फिर वो अन्ना हो या अरविंद गांधी हो या कितने भी बड़े भ्रष्टाचार के कहने वाले विरोधी है हिम्मत नहीं है उनकी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के भ्रष्टाचार या उनके सगावाद भाई भतीजावाद के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज को वो कंट्रोल में करके कैसे उनके रिश्तेदार वकीलों को आ, हर महीने 10-20 करोड़ की फी देके उनसे पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे जुडिशरी पे कंट्रोल कर लेंगे और इस तरह से वो लाखों करोड़ों नागरिकों का दमन शोषण करने में सफल हो जाएंगे तो एफडीआई के लिए प्री कंडीशन है कि जुडिशरी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए जूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल जज अमेरिका में भी है राइट टू रिकॉल जज भी है तो जितने भी केस लोअर कोर्ट में जाएंगे हाई कोर्ट में जाएंगे वहां पे अमेरिका में अधिकतर जिलों में राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है अधिकतर राज्यों में right to recall state court जज है तो वहां का स्टेट कोर्ट जज है वो बड़ी कंपनियों से पैसे लेके नागरिकों का बड़े पैमाने पर दमन करने से हिचकिचाता है जबकि भारत के जज को कोई पड़ी नहीं है वो एंड्रोन का केस ये भोपाल का केस हो तो भी आप देखिए कि जस्टिस अहमदी ने चिल्लर के दाम पे बेच दिया उसके पहले जस्टिस पाठक थे चिल्लर के दाम उसने बेच दिया क्योंकि बड़ी कंपनी है वो प्रलोभन देके रिश्वत देके जज को खरीद सकती है और वो इस तरह से बड़े पैमाने पे नुकसान कर सकती है तो एफडीआई आने की प्री कंडीशन है कि भारत में राइट टू रिकॉल जज होना चाहिए, ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए और उसके बाद ही हमें एफडीआई आने देनी चाहिए। उसके बाद एफडीआई से रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यू कि विदेशी कंपनियां ने मान लो 10 मिलियन डॉलर की एफडीआई डाली और क्योंकि उनके देश में ज्यूरी सिस्टम है उनके देश में राइट टू रिकॉल है इसलिए वहां एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है तो उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है टेक्नोलॉजी अच्छी है इसलिए वो भारत में आएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा करेंगे सॉल्यूशन क्या है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि भारत में भी जूरी सिस्टम लाए राइट टू रिकॉल लाए ताकि हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन सुधरे हमारा भी टेक्नोलॉजी सुधरे और इससे हमारी कंपनियां भी आगे बढ़े और लेकिन वो जब तक नहीं होता तब तक उनकी कंपनी आएगी तो वो ज्यादा प्रॉफिट करेगी क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो प्रॉफिट करे चलो ज्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉफिट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक कंपनी ने मान लो दस करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया फिर एक दो करोड़ का प्रॉफिट किया अभी लॉ क्या है कि वो उसने रिजर्व बैंक को बोला कि भाई ये लो दो करोड़ रुपए और बदले में मुझे डॉलर दो तो जो भी रिजर्व बैंक ने रेट रखा है मान लो एक डॉलर का पचास रुपया तो उसे दो करोड़ बटा पचास यानी चार लाख डॉलर रिजर्व बैंक को देने पड़ेंगे और उस कंपनी ने बोला कि चलो मैं दस करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है मैं सारा का सारा बेच देता हूं चलो मेरे पास नौ करोड़ आए इसका मुझे डॉलर दो तो रिजर्व बैंक को उसको डॉलर देने पड़ेंगे ये कानून गलत है क्यों गलत है क्योंकि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा कि भाई चलो रुपये के दाम गिराने हैं तो एकाएक सारी मल्टीनेशनल कंपनियां कहेगी कि हमको अपना प्रॉफिट बाहर ले जाना है, हमको अपना इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाना है। तो एकाएक रिजर्व बैंक इतने सारे डॉलर कहां से ला के देगी? नहीं ला पाएगी, तो रुपए के दाम कम करने पड़ेंगे। यानी कि रुपए के दाम पचास रुपए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बोला कि मुझे डॉलर दो, चलो रिजर्व बैंक ने पचास के दाम पे दिए, पचास के दिए, अब डॉलर कम होने लगे, तो जैसे कम होने लगे, रिजर्व बैंक बोलेगी, चलो नहीं भाई, रुपए के बदले में डॉलर के बदले में साठ रुपए डॉलर का दाम मतलब अब साठ रुपया है यानी कि रुपए का दाम कम हो गया तो इस तरह से वो एकाएक सरकार को जब दबाव डालना है या तो उनको बड़े पैमाने पे इंडिया में रियल एस्टेट खरीदना है तो डॉलर का दाम नीचे ले जाएगी अरे रुपए का दाम नीचे ले जाएगी और उसके बाद डॉलर लाके फिर वो बड़े पैमाने पे जमीन खरीद सकते हैं दूसरे कारोबार कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने ड्राफ्ट दिया है कि किस तरह से हम ये फॉरेन करेंसी की क्राइसिस खड़ी होने का जो प्रॉब्लम है वो कैसे कम कर सकते हैं आ, forty three chapter forty three में दो चीजें हैं decreasing petrol import and external debt और इसमें यह भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से हम ये डॉलर की क्राइसिस अवॉइड कर सकते हैं कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम कंपनियों को हम रिजर्व बैंक के कानून चेंज करें कि रिजर्व बैंक के पास यदि आप रुपए लेके जाते हो तो रिजर्व बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपको डॉलर दे आपको डॉलर चाहिए ओपन मार्केट से खरीद लो और ओपन मार्केट में आपको कोई डॉलर देने को तैयार है तो ठीक है नहीं देने को तैयार है तो आपकी किस्मत तो डॉलर जब लाते हो तभी भी आपको फ्रीडम है आप प्राइवेट पार्टी को बेचना है तो प्राइवेट पार्टी को बेचो रिजर्व बैंक को बेचना है तो रिजर्व बैंक को बेचो लेकिन जब डॉलर वापस ले जाने हैं रुपया देके तो प्राइवेट कंपनी से डॉलर लो नहीं मिले तो तुम्हारी किस्मत तो इससे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी डॉलर लाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और वही तो कैपिटलिज्म है कैपिटलिज्म में सरकार सरकार पे क्यों जिम्मेदारी डालते हो ये जो कैपिटलिज्म के गुणगान गाने वाले हैं वो क्यों ये कहते हैं कि नहीं सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो डॉलर ला के दे तो इस तरह से जब विदेशी कंपनियों को पता चलेगा कि भाई ये सरकार के दबाव डालने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो आना होगा तो आएगी बिजनेस करना होगा तो करेगी पर सरकार के दबाव नहीं डाल पाएगी और सरकार फॉरेन करेंसी कहां से लाएगी सेना चलाने के लिए और दूसरे कामों के लिए कि सरकार मार्केट में से डॉलर खरीद लेगी या तो एक और कानून बनाने के लिए पास करके कि जो भी आदमी 100 डॉलर देता है तो उसको 35 रुपए की टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा वो अपना टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता है या तो बेच सकता है जो भी चाहे और वो कैसे 35 लाख लाए वो वाइट के तरीके से लाएगा इलीगल तरीके से लाएगा तो तो जेल हो जाएगी पर वो ट्रांसफर पेमेंट हो या नहीं कि बाहर कोई एनआरआई है उसने पैसा भेजा या तो एक्सपोर्ट किया वो किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से वो 100 डॉलर लाता है तो उसको 30 डॉलर की टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी वो टैक्स क्रेडिट को वो इस्तेमाल कर सकता है तो इस तरह से भारत की सरकार को जितने डॉलर जरूरी होंगे वो डॉलर आ जाएंगे और बाकी पूरा रुपी डॉलर ट्रेड है वो 100 परसेंट प्राइवेट हो जाएगा और पेट्रोल का मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि हमारा अधिकतर फॉरेन करेंसी वो पेट्रोल में जाता है तो पेट्रोल का कैसे मैनेज करना वो भी मैंने चैप्टर थ्री में बताया वो एफडीआई से लिंक है क्योंकि अभी जो एफडीआई आने दिया जा रहा है उसका एक बड़ा कारण यह है कि पेट्रोल इम्पोर्ट को, को सस्टेन करना है हम बड़े पैमाने पे पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसे कम करना उसके तरीके मैंने चैप्टर 43 में दिए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, फिर पेट्रोल का एक तरह से रैशनिंग करना जो कि पॉसिबल है, ये अर्थशास्त्री झूठ बोलते हैं कि पेट्रोल का रैशनिंग नहीं हो सकता, वो अलग तरह से है कि भारत में जो पेट्रोल बनता है, वो इंटरनेशनल दामों पर बेचा जाए और जो प्रॉफिट होता है वो नागरिकों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए ये एमआरसीएम है चैप्टर फाइव में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो जब प्रॉफिट नागरिकों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली हर एक आदमी के पास साल के 40 लीटर पेट्रोल खरीदने की कैपेसिटी आ जाएगी 40 या 45 जो भी हमारा पर कैपिटा पेट्रोल प्रोडक्शन है इंडिया का और बाकी पेट्रोल यदि उसे खरीदना होगा तो उसको मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा तो इस तरह से फॉरेन करेंसी में पेट्रोल के इंपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार की नहीं रहेगी और ऑटोमेटिकली इससे पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाएगा पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारी डॉलर की जरूरत कम हो जाएगी तो हमारे एफडीआई की जो जरूरत है वो भी कम हो जाएगी उसके बाद एक कानून पास करा के कि जो एफडीआई कंपनी विदेशी कंपनी आ रही है वो आ सकती है लेकिन वो जमीन नहीं खरीद सकती वो जमीन किराए पे ले सकती है पंद्रह साल के लिए मैक्सिमम पच्चीस साल के लिए या तो पंद्रह साल भी बहुत है उसके ऑफिस बनाने के लिए फैक्ट्रियां बनाने के लिए जैसे चीन में विदेशी कंपनियों को जमीन दी जाती है तो मैक्सिमम लीज होता है पच्चीस साल का 25 साल से ज्यादा शायद ही किसी विदेशी कंपनी को जमीन उन्होंने लीज पे दी हो अधिकतर जमीन की लीज है इसमें 25 साल की लिमिट है और 25 साल के बाद लीज रिन्यू हो सकती है पर उस समय जमीन का दाम बढ़ा है तो ज्यादा किराया देना पड़ेगा कम है तो कम किराया देना पड़ेगा तो इस तरह से विदेशी कंपनियां वो जमीन नहीं खरीद सकती और उसके बाद विदेशी कंपनियां कौन कौन सेक्टर में आ सकती है नहीं आ सकती उस पर जैसे कि माइनिंग में FDI नहीं अलाउ करना चाहिए वो पूरा एक पॉलिटिकल बिजनेस है mining is equal to politics एक साफ साफ देख लो भारत में जितनी गुंडागर्दी हो रही है वो 90% माइनिंग की वजह से हो रही है और राइट टू रिकॉल की ना हो जो राइट टू रिकॉल और एमआरसीएम कानून आएंगे तो अपने आप ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि माइनिंग सेक्टर है वो पूरा 100% व्हाइट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर इसी तरह से ये जो सोराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ जिसमें ये पांच दस आईपीएस ऑफिसर जेल में है वनजारा और सब वो भी माइनिंग के झगड़े में हुआ था मार्बल माइन थी वो एक कांग्रेस के चहीते उद्योगपति के पास थी बीजेपी ने वो छीनने की कोशिश की तो कांग्रेस के उद्योगपति ने सोराबुद्दीन के द्वारा उस उद्योग उस माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर को मर्डर करवा दिया और इसलिए फिर बीजेपी को उसका एनकाउंटर करना पड़ा और एक लंबी कहानी शुरू हो गई फिर वो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला कि तुम एसआईटी बिठाओ सुप्रीम कोर्ट के जज ने ह्यूमन राइट का मुद्दा उठा के एसआईटी बिठा दी पर वो सारा झगड़ा माइनिंग के यदि माइनिंग की रॉयल्टी सीधी सिटीजन में जा रही है तो ये झगड़ा ही नहीं होता तो विदेशी कंपनियों को हमें माइनिंग में नहीं आना देना चाहिए क्योंकि माइनिंग की रॉयल्टी सीधी सिटीजन के हाथ में जानी चाहिए उसके बाद हम ये तीन लाइन का कानून जो टीसीपी है उसके द्वारा ये भी तय कर सकते हैं कि खाने पीने की आइटम में विदेशी कंपनियों को आने देना चाहिए या नहीं यानी यदि टीसीपी से पास होता है कि खाने पीने की आइटम में या तो जीरो टेक्नोलॉजी में विदेशी कंपनी नहीं आ सकती तो उसमें विदेशी कंपनी फिर नहीं आएगी और आ, ये आ, फिर सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो है टेक्नोलॉजी का कि विदेशी कंपनियां उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इसलिए वो भारत की कंपनियों से उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है और इसलिए वो पैसा ज्यादा कमाती है और विदेशों में उन्होंने ज्यादा पैसा कमाती है लिया है तो उस पैसे के द्वारा वो भारत के नेताओं को अधिकारियों को बुद्धिजीवियों को रिश्वत देके और अपना पांव पसारने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका उपाय है कि हमको अपनी टेक्नोलॉजी सुधार के हमको भी उनके जितना प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उसके लिए हमें पहले इंजीनियरिंग सुधारना पड़ेगा इंजीनियरिंग कैसे सुधार सकते हैं तो उसके लिए अदालतें सुधारनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना पड़ेगा कि अमेरिका का एक छोटा उद्योगपति है वो किसी कानूनी लफड़े में फंस जाता है अदालत में जाता है तो ज्यूरी उसको फेयर जजमेंट देती है और वो भी महीने दो महीने के अंदर इंडिया का में आप छोटी फैक्ट्री खोल दो और अदालत के झपेटे में फल गए सच या गलत तीन चार साल निकल जाएंगे तो ऐसी हालत में भारत के जो छोटे उद्योगपति है वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते जितने अमेरिका के छोटे उद्योगपति काम कर पाते हैं और इसलिए उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और फिर पूरी इकोनॉमी की एफिशिएंसी इसकी वजह से कम हो जाती है इसलिए हमें राइट टू रिकॉल जज right to recall police commissioner और ज्यूरी सिस्टम ये लाने चाहिए ताकि उद्योगपति बड़े पैमाने पर काम कर सके फिर मैंने दूसरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया है चैप्टर चैप्टर 20 स्वदेशी प्रमोटिंग स्वदेशी और chapter 26 promoting improving engineering skills in India कि इंडिया में इंजीनियरिंग स्किल्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो कि हमारी कंपनियां विदेशी कंपनियों के बराबर में आ जाए और उसके बाद हम कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए जब दोनों कंपनियों का फायदा है कि भारत की कंपनी अमेरिका में कॉम्पिटिटिवली बिजनेस कर पाएगी तो फिर हम विदेशी कंपनी को कॉम्पिटिटिवली बिजनेस करने का मौका दे सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है कम से कम हमारा नुकसान नहीं है और हमारा फायदा है आज की तारीख में ऐसा नहीं है इसलिए आज की तारीख में बंद करना देना चाहिए यानी जब मैं कहता हूं कि वॉलमार्ट को नहीं आने देना चाहिए साफ में बता दूं कि मैं भारत की कंपनी बड़े पैमाने पे सुपरमार्केट खोलती है यदि वो 100 परसेंट इंडियन ओन है तो तो मुझे कोई एतराज नहीं है मुझे एतराज वॉलमार्ट से इसलिए है क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी है यदि वो भारत की कंपनी होती 100 परसेंट ओनरशिप उसकी भारत की होती 100 परसेंट माल वो भारत का खरीदती और बड़े पैमाने पे इस तरह से बेचती तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तो हम अपने कानून और अपने हम अपने कानून सुधार के इंडियन वॉलमार्ट खड़ी कर सकते हैं और इस तरह से हम वॉलमार्ट को आने से रोक सकते हैं अब टेम्पररी कानून के द्वारा एफडीआई को रोकना जो कि अभी काम करना चाहिए लेकिन मैं बताऊं कि ये एक टेम्पररी मेजर ही है परमानेंट मेजर क्यों नहीं है कि अमेरिका की कंपनी बड़े पैमाने पे सबको रिश्वत देगी और रिश्वत देने के बाद एफडीआई अलाउ करेंगे नेता लोग जैसे अभी ममता बनर्जी है उसको पैसा दे दिया हिलेरी क्लिंटन आई थी मिली थी उसको जो भी उसका भाव तय करके दे दिया तो चलो अब तीन सेक्टर में मनमोहन सिंह ने दो तीन दिन एक दो दिन पहले रिटेल ये एफडीआई अलाउ किया एविएशन ब्रॉडकास्टिंग रिटेल और डीजल के दाम पांच रुपए बढ़ाए एलपीजी में सब्सिडी कम कर दी तो ममता बनर्जी नाटक करेगी और नाटक के बाद मान लो डीजल का दाम कैंसिल हो जाता है इंक्रीज कैंसिल हो जाता है एलपीजी की सब्सिडी चालू रहती है और रिटेल में एफडीआई खत्म हो जाता तो बाकी तो दो तो चालू रहे एविएशन में एफडीआई आ गया और ब्रॉडकास्टिंग में एफडीआई की लिमिट बढ़ गई तो यानी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या गेम खेलती है कि वो पांच कानून पीएम के पास काम करवा देंगे और ममता बनर्जी से बोलेंगे कि भाई तुमको विरोध करना है चलो विरोध करो तुमको भी थोड़ी बहुत क्रेडिट मिलेगी ममता बनर्जी विरोध करेंगी पांच में से तीन को कैंसिल करा देंगे तो हर एक राउंड में उनको दो दो सेक्टर का फायदा हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे वो रिटेल के साथ एक और सेक्टर जोड़ देंगे एबीसी ममता बनर्जी एबीसी का विरोध करेगी और रिटेल है वो निकल जाएगा तो ये नेताओं को पैसा देके बजाएंगे अब चलो हम राइट टू रिकॉल पीएम ला देंगे तो उसके बाद ये नेताओं का भ्रष्टाचार रुक जाएगा लेकिन उसके बाद हमने यदि हमारी कंपनियों की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई तो अंत में एफडीआई भारत में लाने के लिए आएगी अमेरिका की सेना आप कानून से कोका कोला को भगा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट को भगा सकते हो लेकिन कौन सा कानून पास करोगे अमेरिका की सेना को रोकने के लिए जैसे सदाम हुसैन ने अमेरिका की सारी कंपनियों को भगा दिया कानून पास करके लेकिन जिस दिन अमेरिका की सेना आई उस दिन कौन सा कानून काम आया उसको तो अमेरिका की सेना को रोकने के लिए क्या तरीका है तो एक ही तरीका है कि हमें अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ाना उसके लिए हमें अपनी इंजीनियरिंग सुधारनी हमें अपनी टेक्नोलॉजी सुधारनी और उसके तरीके मैंने चैप्टर 20 में और चैप्टर 24 में improving military industrial complex of India chapter 26 improving engineering skills in India इसमें दिया तो मैं समापन करूंगा कि एफ आज की तारीख में हमें कैंसिल करवा देने चाहिए उसके बाद सेक्टर बाय सेक्टर इवोल्यूशन हो एफडीआई आने से पहले प्री कंडीशन है कि हमारी जुडिशरी का सेंट्रलाइजेशन हो अमेरिका में जूरी सिस्टम है यानी विदेशी कंपनी जाके जज को खरीद के कुछ उखाड़ नहीं पाएगी क्योंकि जजमेंट जूरी को देना है जबकि यहाँ पे विदेशी कंपनी आती है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीद लिया और खरीद लिया ऑलरेडी खरीद लेगी कि ऑलरेडी खरीद लिया तो बड़े पैमाने पे वो लाखों देश के नागरिकों का करोड़ों देश के नागरिकों का शोषण करने में समर्थ हो जाएंगे शोषण और तमन और इसलिए जुडिशरी को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ज्यूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल जज के द्वारा फिर हमारे नेता विदेशी कंपनी के एजेंट ना हो जाए इसलिए right to recall PM right to recall CM right to recall police commissioner ये सारे कानून लाने चाहिए रिपेट्रिएशन का कानून बंद करना चाहिए कि आप डॉलर लेके आओ और प्राइवेट कंपनी को बोलो उनको डॉलर बेचो और उनसे रुपया लेके तुम भारत में करो जो तुमको काम धंधा करना है लेकिन वो पैसा आप रिजर्व बैंक को दोगे तो रिजर्व बैंक आपको डॉलर देने के लिए बंधन करता नहीं है उसकी मर्जी हुई तो देगी नहीं मर्जी हुई तो मत देगी आप मार्केट से जाके खरीद लो और एफडीआई में हमारा डिपेंडेंस एफडीआई पे कम हो इसलिए हमें पेट्रोल का इंपोर्ट कम करना चाहिए कैसे कम करना चाहिए उसके तरीके मैंने दिए हैं चाहे उसका अलग वीडियो है पूरा और अंत में हमें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए ताकि हम भारत के अंदर 100% भारतीय वॉलमार्ट बना सके धन्यवाद